करनी में फर्क है कहते हैं ना लोग कहावत हो गया आजकल तो कथनी करनी में फर्क है कहाता कुछ है करता कुछ और अगर दिल्ली जा रहा हूँ चला जाएगा कलकत्ता ये भी माया के अंतर्गत थी झूठ तो है ही साथ साथ नाटक भी कराना है इसने इसलिए करते माया मारियो दोषा यदि भी तीन गिराया और भी जितने भी अन्य दोष है किसी भी प्रकार का दोष का ना होना चाहिए अधिकारी शो ब्रह्मचारी वाहन प्रस्थो निमित्त भाव न ब्रह्मचारी वाहन प्रस्थ भिक्षो में ऐसा कोई निमित्त ही नहीं है जिसमें सर झूठ चल कवट करना पड़े ऐसे ही लोगों को तत्साधन अनुरूप अनुरूपेण इसलिए तत्साधन के अनुरूप ही वो क्या करते हैं सत्य अधिक परिपालन करते ब्रह्मचारी है तो उसको तो करना ही पड़ेगा ना अहिंसा सत्या कह दिया वहां पर पान प्रश्न है तो भी सन्यासी तो भी ये सब नियम पालन करेगा ना अतः स्वत ही उसके लिए निमित्त नहीं रह गया इस तरह का गलत कार्य करने के लिए तेषाम असो विरजो ब्रह्म लोको इति ज्ञान युक्त कर्म वदांगति आगे ना ये जो है उपासना युक्त ज्ञान उपासना युक्त कर्म वालों की गति बताई गई है पूर्वोक्त ब्रह्मलोक का केवल करणांचल इससे ज्ञापन हो गया पूर्वोक्त जो कहते तो वो अशुद्ध था ये विरज है वो अविरज है ये शुद्ध है वो अशुद्ध है अपने आप दोनों जगह ब्रह्मलोक से प्रयोग हो गया ना लेकिन विरज ब्रह्मलोक का ज्ञापन कर दे वो अविरज ब्रह्मलोक है अतः कर्मोपासना विशिष्ट व्यक्ति के लिए यह कर्म मुक्ति वाला विरज ब्रह्मलोक है और केवल कर्मी जो होता है उसमें चंद्र लक्षण ब्रह्मलोक जो है पुनरावृत्ति वाला वृद्धि क्षय स्वभाव वाला वह चंद्रलोक प्राप्त होता है प्राण आत्ता प्रजापति प्राण ही आत्ता है और वही प्रजापति है वही आदित्य रूप है ये का बात कह दिया गया तस्य प्रजातित्व अत्यंत अस्मी शरीर अवधारितव्यम तादृश प्रजापतित्व रूपा जो अतृत इस शरीर के अंदर कौन है ये निर्धारण करना जरूरी वो तो समष्टि में कथन हो गया लेकिन व्यष्टि में इसको घटाओ कहा है वो कौन है वो प्रजापति जो अत्ता है अस्मिन शरीर विधारितव्यम अयम प्रश्न आरभ्य थे इसलिए दूसरा प्रश्न आरंभ होता है अतहीनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवान कत्यो देवा प्रजा विधारयते कतरे तत्प्रकाशयते कह पुनरेशा वरिष्ठ उसके बाद पिपलाद मुनि अतम ने उसके बाद अनंतरम हा एनम पिपलादम मुनि प्रति एष भार्गव वैदर्भी पप्रच्छ या उत्पन्न विदर्भ देश में पैदा हुआ वैदर्भी ने पूछा हे भगवान हे पूज्य कति एवं देवा प्रजा विधारयंते इस शरीर रूपी प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं कत्यो देवा प्रजा मान शरीरात्मक प्रजा क्योंकि पहला क्या होता है पुरुष ने स्त्री में वीर को डाला उससे क्या हुआ जो वही प्रजा पैदा हो गया मान शरीर तो पैदा हुआ शरीर को कौन धारण कर रहा कितने देवता लोग मिल करके इस शरीर को धारण किए हुए हैं कतरा एक प्रकाश यंदे और इन देवताओं में से भी कौन है जो इसे प्रकाशित करता है कोई एक होगा ना जिसको प्रकाशन कर रहा है अनेकों मिल करके धारण किए हुए हैं लेकिन कोई एक ही इसका प्रकाशन करेगा अनेक नहीं प्रकाशन कर सकते यदि अनेक मालिक हो गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा एक मालिक होगा उसके अंदर अन्य सभी के व्यवस्थित होते हैं तब तो काम चलता है नहीं तो काम भी करेगा अव्यवस्थित हो जाएगा शरीर का ही विदारण होगा विधारण नहीं होगा विदारण होगा धा और दा फर्क कितना ही फट जाएगा ज्ञात मालिक पैरवी मालिक पर अलग मालिक धारा पर अलग मालिक तो गड़बड़ हो जाएगा दाना पैर कहेगा मैं इधर जाऊंगा बाया पैर के मैं उधर जाऊंगा तब क्या होगा फट जाएगा विदारण होगा तो इसीलिए कहते विदारण नहीं होना है विधारण होना है तो कोई एक व्यवस्थापक मानना पड़ेगा एक है उसका विमान होगा और अन्य जो रह ये तीन प्रश्न है कि देवता कौन प्रकाशन करता है और कौन इनके वरिष्ठ है तीन बात को एक प्रश्न में गोद दिया गया तीन प्रश्न अलग ना समझे एक ही प्रश्न एनम बारक वैदर्भ प्रचा भाषा अथ मन अनंतरम हो किला ह कर किला प्रसिद्ध एनम प्रसिद्ध जो पिपरा महर्षि उनसे भार्गव भी पप्रच्छा हे भगवान कतियो देवा प्रजा शरीर लक्षण विधारयुंदे विशेषेण धारयुंदे कतियो देवा प्रजा में कितने देवता लोग इस प्रजा में शरीर रूप प्रजा को धारण करते हैं विशेष रूपेण धारण करते हैं कतरे बुद्धि इंद्रिय कर्म इंद्रिय विभक्ताराम एक प्रकाशनम बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय मैंने ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि इंद्रिय मैंने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आदि रूपेण विभक्त इनमें से कौन है जो एक प्रकाशनम स्व महत्व प्रख्यापन प्रकाशन थे अपने महत्व की ख्यापन करने योग्य प्रकाशन करता हो ऐसा वह कौन है माणाश्च संत कतरे किमोर निर्धारण दियोर एक डपरक्ष प्रत्यय है ना इसलिए कतरे में डतरक्ष प्रत्यांत है ज्ञानेन्द्रियत्व कर्मेन्द्रियत्वाभ्याम विधा विभक्ता नाम मध्य कतरे किन जातीय कौन सी जाति वाला इसको अपने महत्व का प्रकाशन करते हुए तब कौन है एक प्रकाशन स्व महत्व प्रख्यापन पूर्वकम प्रकाशनम प्रकाशित है पाकम पचित के समान प्रयोग किया है प्रकाशनम प्रकाशित पाकम पचती उसी प्रकार से प्रकाशनम प्रकाशयते इसे व्यवहार हो गया कोश पुनरेश वरिष्ठ प्रधान कार्य कर्ण लक्षण कार्य कर्ण लक्षण भूता इन समस्तों में से वरिष्ठ कौन है इनमें प्रधान कौन है इसी बात को समझाने के लिए यह प्रश्न उठा है तब आचार्य पिपला चीज का जवाब कहेंगे सहोवाच आकाश हवा एश देव वायुरग्निराप पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्र ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः तस्मै उस तो भार्गव वैदर्वी के लिए स प्रहलाद महर्षि आचार्य जी ने निश्चय भाव से वाच कहा क्या कहे आकाश हवा एश देव हम निश्चित रूप से इस प्रजारूपी शरीर का देवता आकाश ही है केवल अकेला आकाश नहीं है वायोर अग्निराप पृथ्वी पूरे पंचभूत और रवांग मन सकल कर्मेन्द्रिय चक्षुष मन सकल अंत और चक्षुश्रोत्र सकल ज्ञान इंद्रिया ये पूरा उन्नीस आइटम जिस जो स्थूल शरीर को जिंदा रखा रहा है जो पुरुष का वीर जो स्त्री में आसक्त उससे उत्पन्न जो प्रजा रूपा स्थूल शरीर है इस स्थूल शरीर को धारण करने वाले ये उन्नीस आइटम है पंच इंद्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच महाभूत और अपंचीकृत पंच भाव समझना अपंचकृत के पंचकृत तो है ही देख ही रहे जो पैदा हो चुके पंचकृत है इसको धारण कौन कर रहा है अपंचीकृत पंच महाभूत है और चार आपका अंतकरण कुछ लोग दो ही मानते मन बुद्धि अहंकार चित्त को विलय कर लेते हैं अत्य सत्रह या उन्नीस अलग अलग प्रक्रिया में कहा गया है यह सभी के सभी फिर मिल करके सूक्ष्म शरीर कहने का मतलब सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को धारण किया हुआ है और वह सूक्ष्म शरीर भी इस स्थूल शरीर को प्रकाशित करने के पश्चात उस सूक्ष्म शरीर में रहने वाले प्रत्येक सभी बोल पड़े कहने लगे भाई मैं ही हूँ अकेला प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना बोलने लगे मेरे वजह से ये शरीर टिका हुआ है मेरे वजह से ये शरीर टिका हुआ है मैं इसको धारण कर रखा हूँ ऐसा प्रत्येक उन्नीस आइटम है सभी से प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना अहंकार से बोलने लगे वयम में तक बाण मने कार्य संघात आत्मक शरीरम अवस्थभ्य अधारण स्पष्ट रूप से स्तंभित करता हुआ जो विधारण कर रहा हूं अच्छा एवं पृष्ठवदे तस्वीर सहोवाच ऐसे पूछे जाने पर द्वितीय प्रश्न के जवाब में आचार्य जी ने इसे कहा क्या कहे हैं आकाश हवा एश देव वायु अग्निराप पंच महाभूतानी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांचों महाभूत है ये इनके देव है इसका देव देवता का मतलब यहाँ पर है इन भूतों का अभिमानी देवता को लेना ब्रह्म सूत्र में इसका निर्णय हुआ अभिमानी उपदेश विशेषानुगति गतिभ्याम अभिमानी का ही व्यपदेश समझो आनंदगिरी में दिया है अभिमानी व्यपदेश विशेष अनुगति भ्याम टिप्पणकार बड़ा सुंदर ढंग से संक्षेप ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भी कर दिया ये जितने भी शब्द हैं आप कहीं पंचभूतों का विवाद हो चाहे पंच इंद्रियों का विवाद हो मन बोला अरे मन कैसे बोलेगा मन का अभिमानी देवता ही तो बोलेगा मन तो जड़ है बुद्धि बोली बुद्धि का अभिमानी देवता चक्षु बोल रहा है चक्षु कहा से बोलेगा उसको कोई जबान तो है नहीं इधर उसका अभिमानी देवता बोलेगा ऐसे सब जगह अभिमानी देवता ही ग्रहण करना चाहिए कार ने बड़ा सुंदर कहा त्योहारी में प्राणा अहिंसय से मारा ये श्रुति है वह ये जो इंद्रिया आपस में लड़ बैठे या पंच प्राण भी अपान हाँ, व्यान उदान समान ये भी तो लड़े थे ना मैं ज्येष्ठ श्रेष्ठ होकर के तो ये कोई भी विषय हो इत्यादि श्रुतिशो प्राणादि शब्द ही प्राणादि अभिमानी देवता नाम व्यपदेशो भवती इन श्रुतियों में तो प्राणादियों के अभिमानी देवता का ही उपदेश समझना चाहिए कुतः विशेष अनुगति भ्याम का दो हेतु एक विशेष और दूसरा अनुगति विशेष का मतलब विशेषण में विशेष अनुगति ताभ्याम विशेष अनुगति भ्याम एकता वही देवता अहम श्रेष्ठ ये वही देवता प्राणा विशेषण दिया ना केवल प्राणा नहीं था ये प्राणा सीधा एते देवता प्राणा ये विशेषण से ज्ञापन होता है तब अभिमानियों को व्याग्रहण करना करना प्राणान वाचना देवता शब्द विशेषत्व और अग्नि उत्मा मुखम प्रावशत इत्यादि मंत्रार्थवाद आदियों में भी सर्वत्र तद मेरे देवताओं का ही अनुगति मैंने ज्ञापन होता है अनुग्रह श्रवणाक्ष ये कारण इसलिए अभिमान देवता है पंचभूतों का हो चाहे पंच प्राणों का हो चाहे पंच ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया चतुर अंतकरण चाहे कोई भी चीज हो जहाँ जड़ों का भी परस्पद वाद विवाद की कथन होता है वार्तालाप के कथन होता है तो आप समझे अभिमानी देवता बोल रहा है आज टीवी में भी दिखाते ना बैगन बोलता है कद्दू से बोल रहा है बैगन कुर कुर के आता है गाजर आ जाता है और आपस में बोल रहे हैं कि नहीं भजन कहता कि मैं बढ़िया खून बनाता हूँ मेरे से कोई बढ़िया है ही नहीं बेगन कहता मैं भले नाम से बेगुण हूँ लेकिन यहाँ सब जगह क्या है तो अभिमानी देवता ही तो लेनी पड़ेगी भले आपको ऐसा दिखा रहे तथा अभिमानी देवता प्रत्येक चीज का अभिमानी देवता है संसार में देवता का मतलब क्या ये नहीं कि वो कोई विशेष शक्ति वाला ही होना मैंने जीव एक अभिमानी जीव है जो कहता है कि मैं इसको अभिमान करता हूँ जैसे आप इस शरीर को अभिमान कर रहे हैं इस शरीर को कण कण पर भी अभिमान करने वाले दूसरे दूसरे लोग हैं जो भी अभिमानी कर अभिमान करता है उसी को देवता कहते हैं शरीर को अभिमान करने वाले हम लोग भी देवता शब्द बातची ही है या नहीं देखो अरे देवता कैसा है बढ़िया देवता आ गया कहते भी व्यवहार तो इसलिए ये सब समझो इस प्रकार का अभिमान विशेषण को दिव्याम के आधार पर चला तो वांग वाला चक्ष श्रोतम इत्यादि ने कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिया कार्य लक्षण कर्म लक्षण कहने का मतलब कार्य रूप पंचकृत महाभूत हो गए और कर्ण रूप पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिय और आपके चतुर कर्ण के ते देवा आत्म महात्म प्रकाश्य वे देवताओं ने अपने अपने महात्म के द्वारा इस शरीर को प्रकाशन करने के पश्चात अभिवदंती कथन करने लगे क्या हो कभी स्पर्धा माना ये नहीं प्रेम से कोई बैठ के बात कर रहे हैं स्पर्धा करते होगी इस रनिंग रेस में तो स्पर्धा होता है वैसे यहाँ स्पर्धा के द्वारा बोलने लगे मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ तुम कुछ नहीं हो मई जो कुछ भी हो तुम लोग सब जो है मेरे वैसे जीवित हो ऐसे एक दूसरे को जो है दबाने लगे अहम श्रेष्ठता यही स्पर्धवाना अभिवदंती कथम वदंती उन्हें क्या बोला वयम एक बारम कार्यकरण संघात वष्ठभ्या प्रासाद स्तंभादियो अविस्तरीकृत्य विधारया वो लोग जो है एक बारम बारम वारम बबयोर वेदा यथा उड़ीसा नहीं उड़ीसरों का वेद कर देते हैं उड़ीसा में बाबा में कोई अंतर नहीं है शास्त्र में भी देखो बाबा को अंतर नहीं किया वारम बारम वारम को बारम प्रयोग कर दिया है ना बारम अवस्तव्य वह है वो वहां गतिगंधनियों से बनाए वारम तो लेकिन भवयो और अभेदात पांच समय टिप्पण भी है भी वक्तव्य कहीं दंत न सिर्फ जब व को व हो गया तो दंत न को भी मुर्दा न समझो वो भी अभेद से ही व्यवहार हो गया ये पता नहीं कौन सी प्रांत में होता होगा न को न उच्चारण इतने वक्तव्य मानव मानव इति उभय दर्शन विश्व वेदों में तो है उपनिषद में है मानव को मानव लेकिन अर्थ भेद है वहां चंचल हो तो अर्थ अलग है मूर्धन नकार हो तो अर्थ अलग है न ना मानव मनोरपत्यम मानव ये तो उचित है जो मनु के शासन के अनुक्रमण करने वाले लोग अनुसरण करने वाले लोग उनको मानव और जो मनु के अनुशासन को उल्लंघन करके चलते श्रोत समार्थ पद्धतियों का आचरण नहीं करते ऐसे म्लेच्छ को कहा मानव अमूर्धन अर्थवेद किया है जहां व्याकरण में आया है लघु में भी और सिद्धांत में शायद लघु में नहीं है सिद्धांत में आया क्योंकि उभय दर्शनार्थ तथा कुत्सायम नक्तम चेत देखो आगे यदि वह कुत्सा में नत्व तो किया गया था अर्थ विशेष को लेकर के है यह कोई अर्थ विशेष को लेकर के नहीं है अभय और अभेदात में कोई अर्थ विशेष नहीं है वाणमेव वाणमिति संबंध वाणमेव वाणमिति न भी हो जाता है वाणमेव बाणमिति और वाण कोई वाण भी बोलते व को वो भी यथा निकंत संतो निघंटव चंदे जैसे निकंत है उसको निघंटव बोलते ग को घ न को ऐसे जैसे कर देते हैं लोग उसी प्रकार से यहाँ भी हो गया है ऐसा समझ लीजिएगा इसका अर्थ क्या होगा वाती कुछ गंदम वहती वाती मैंने कुत्सितम गंधम वहति इति वा पाणम बाणम विनाशं गच्छति देशा देशांतरम गच्छति वा बाणम बाणम एवं पहले गंध के वाह धातु दो अर्थ में गति गंधन यो गति और गंधन पहले गंधन अर्थ दिखाया गिरी में कुशितम गंधम वह एक पक्ष विनाशम गच्छी वाह दूसरा पक्ष देशा देशांतर गच्छी वाह गमन पक्ष दौर ले रहा है देशा देशांतर गच्छी वाह तीन निष्पत्ति किया गया वारम बारम के लिए कार्यकरण संघातम शरीरम इत्यर्थ अवस्टभ्य जैसे दृष्टान दिया प्रासादमिव स्तंभादयो प्रादम प्रासादमिव स्तंभादयो जैसे जो खम्भे मकान को खड़े रखते हैं ठीक उसी प्रकार से मैं ही जो है इसको खड़ा कर रखा हूँ ऐसे प्रत्येक अपना अपना विमान करने लगे देखो एक खम्भा तो खड़ा करता नहीं सब मिलके खड़े करते इन्हीं तो भ्रांति है मैं अकेला खड़ा कर दिया सोच रहा है कृत्या उसको शिथिल नहीं किया बिखेरने नहीं दिया न कर ऐसा न बिखरने दे करके विधारया वो स्पष्टम धारया महामय एक अयम संघात यदि एक एक अभिप्राय मैं अकेला ही इस संघात को धारण किया हूँ इस प्रकार का जो है एक एक प्रत्येक का अभिप्राय ऐसा लगता है सब कृष्ण भगवान हो गए अकेला ही उठा लिया ना गोवर्धन पर्वत अंगुली के ऊपर वैसे सब अपने आप को अभिमान कर मैं अकेला शरीर को टिका के रखा हूँ तुम लोग क्या कुछ नहीं हो भले भगवान कृष्ण ऐसा अभिमान नहीं है भले अकेला उठाया और सब अरे जल्दी लगाओ डंडे लगाओ और सबने डंडे लगाए लो आप लोगों डंडे लगे तभी तो टिका है सबको अपनी महिमा को सबको बांट दिया तुम लोगों की महिमा से टिका अरे कहीं डंडों से बाहर टिकेगा तो यही उनकी महिमा है अमानत और मानी है ना वो जो उनको अपमान करने वाले को मान देने वाले महापुरुष है तो ऐसे लोगों के लिए तो व्यवहार इस तरह के होता है और जो मान है ही नहीं जबरदस्ती मान चाहने वाले उनमें से ये मान करने लायक कहीं नहीं है जबरदस्ती नहीं मेरा सम्मान करो मैं ही सब कुछ हूँ दुर्भिमान करो हम आ गए उनको माना नहीं पड़ा है क्या बात है ये द्रव्यवारी तो है और है क्या एक एक अभिप्राय तान वरिष्ठ प्राणवाच तान वरिष्ठ प्राणवाच मंत्र आरंभ होता है कौन क्या का उसमें भी उन लोगों ने अपने सभी ने कहा मैं मैं मैं मैं तब वास्तव में जो वरिष्ठ कौन है प्राण मुख्य प्राण प्राण में ध्यान नहीं समझी कई जगह प्राण शब्द ग्रहण में लिया जाता है तो वो नहीं अकाल से मुख्य प्राण लेना है प्राण वरिष्ठ प्राण वाच मा मोहम आपदता अहम में वही तक पंचदा आत्मा प्रयोज्य एक अवस्थभ्य अवष्टभ्य विधारयामी ते अश्रद्धारा बबू कौन सुने ये कहे तो ये कौन सुने इसकी बात अरे तू भी बोल रहा है हम लोग जैसे तो तू भी बोल रहा है कुछ नहीं है कोई नहीं मानने को तैयार अश्रद्धाना बहु श्रद्धा मतलब क्या वचन में आस्तिक बुद्धि स्वीकृति और अश्रद्धा मैंने वचन में अस्वीकृति करना तान वरिष्ठ प्राणवाच उन लोगों के प्रति जो सर्ववरिष्ठ है ज्येष्ठ श्रेष्ठ है वह प्राण ने कहा यह प्राण वृत्ति भी नहीं लेना जो ऊर्धम नगेती वाला वृत्ति विशेष वो नहीं मुख्य प्राण जो जा रहा है भीतर वो जाने के बाद पांच भाग बनेगा ना प्राण अपान उदान समान बनेगा वृत्ति विशेष बनेंगे वो नहीं यहाँ मुख्य प्राण ही लेना है उसने कहा मा मोहम आपद्यता अरे भाई आप लोग ऐसा मोह को मत प्राप्त हो फालतू का अभिमान मत करो आमेव हाँ, तो पंचदात्ता भविष्य मैं ही वाक्य में पंच रूप से विभाजन अपने आप को करके ये तत्म अवष्ठभ्य विधारायामी इस शरीर को अव स्तंभन करता हुआ धारण किया हूँ मैंने शिथिल होने न लेकर बिखेर न, न बिखरने देते हुए धारण किया हूँ लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना किंतु उन देवताओं ने कहा उक्त बात पर विश्वास नहीं किया अश्रद्धा ना हो उन्होंने विश्वास बिल्कुल नहीं किया उसके वचन में किसी प्रकार की आस्था नहीं बनाई तानेम अभिमान तो मुख्य प्राण आदि भाग्य मुख्य प्राण वाच मुख्य प्राण वाघादि इंद्रियों में गौण प्राणत्व है प्राण अपान आदि वृत्तियों में भी गौण प्राणत्व है और यह मुख्य प्राण ही है माम मोहम माप देखो अविवेकतया अभिमान महागुरु गुरु तो अविवेक से जो है दुराभिमान मत किया करें आप यह समाज अहमेव एक बारम अवस्थ विधारयामी जिसलिए मैं ही जो है इस शरीर को अवस्थभ्य स्तंभित करते हुए विधारयामी धारण कर रहा हूँ अरे अकेले कैसे कर रहे हो भाई अकेले कैसे करोगे कहे नहीं मैं अकेले तो अंदर घुसता हूँ लेकिन घुसने के बाद मैं अपने आप को पांच रूपों में स्थानोपाधि अथवा क्रिया उपाधि हृदय प्राण का ना हृदय में जो है प्राण है ये तो स्थानोपाधि हो गया जो तो ऊर्जम नहीं थी को प्राण तो उसको उपाधि हो गई स्थान तो स्थानोपाधि को लेकर कहीं क्रिया उपाधि को लेकर मैं अपने आप को क्या कर दिया हूँ पंचधार अविभज्य आत्मान अपने आप को विभाजन कर लिया वृत्ति भेद प्राण अपान उदान विधान समान विवृत्ति भेद को स्वच्छ कृत्वा अपने आप का स्वरूप को इस प्रकार से वृत्ति भेद से विभक्त करके विधारयामी युक्तवती विधारयामी ऐसे उसने कह भी दिया कहने के बावजूद भी तस्मिन अश्रदाना अप्रत्यवंदो हो उन लोग उसके उस वचन में उन लोगों को कोई विश्वास नहीं हुआ और बल्कि उल्टा अप्रत्यवंता सुने भी ना सुने की जैसे हो करके कथा में तो देव अरे ऐसा कैसा हो सकता है ऐसा कैसे होगा मेरे बिना ये कैसे कर देगा कुछ काम मेरे वैसे तो चल रहा भले बोल रहा सभी अपने अपने में ऐसे भाव करने लग गई अरे फालतू बात कह रहा है वास्तव में मेरे ही वजह से जीवित है ऐसे हर इंद्रिय हर देव इंद्रियाभिमानी देवता भूताभिमानी देवता सभी ने कहा क्या तो क्या करें कैसे जचावे इनको वो बात जचे कुछ करना तो पड़ेगा ना तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ो और क्या पता चल जाएगा बच्चों को भाई किसके भाव कितना है आटे दाल का भाव बोलते हैं आज की भाषा में आटे दाल के भाव कैसे पता चलेगा तब भाव घर छोड़ के चला जाए तब ना पता चलेगा तीर्थ यात्रा में चले जाओ और कोई रास्ता नहीं उसी प्रकार ये भी तीर्थ यात्रा के लिए चलेगा प्राण तो होता पता चले उन लोगों को क्या हालत होगी अब उठा ही वो इतने हालत खराब हो गया सब होगा सो अभिमान दूर तुम उत्क्रमदायी तस्वीनुत्क्रामत्यथे सर्व एव उत्क्रामं दे तस्वीभूष प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठम दे तद यथा मक्षिका मधुकर राजानमुत्क्रामंतम सर्वायु दे तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वायु प्रातिष्ठम द ते प्रीता सुनवंदी सो दूर दूरतम उत्क्रम अच्छा प्राण के मन में आ गया अच्छा हमारी बात नहीं मानते तुम लोग दिखाता हूं ऊर्जम उत्क्रम इव बस ऊपर चलने की तैयारी के समान किया उसने चली देता तो फिर तो मर गए होते सारे के सारे शरीर मर गया होता तो कहा रहते हो कितने कैसे बस चलने की जैसे किया कई लोग बोलते ना बस मौत के मुंह में जाके लौट गया कहते हैं बीमारी ऐसी हो गई अब बहुत सोच रहा आप मरा तब मरा फिर जिंदा हो गया तो, तो यही कहेंगे तो मौत के मुंह में जाके लौट गया उसी वजह प्राण को उत्क्रमण करने के समान बस अब मारा भरोसा नहीं ऐसी में डाल दिया तब तो क्या हुआ तस्मिन उत्क्रामती अत इतरे सर्वे उत्क्रामंत उसके उत्क्रमण करने के जैसे नाटक करने की देरी हुई इतने में सारे के सारे उखड़ने लगे वो भी उत्क्रमण करने के जैसे हो गए तब फिर वो बैठ गया तस्वीर से प्रतिष्ठा माने सर्वे वो बैठ गए सब अपने अपने स्थान पर आनंद से रहने लगे जब यह अनुभव हो गया दृष्टान समझा रहे हैं पहले तद यथा मक्षिका मधुकर राजान उत्क्रामंत सर्वायोत्क्रामंत ये मधुमक्खी की जो महारानी वो जब निकल पड़ती है सब मधुमक्खियां उड़ जाते साथ साथ वो जहां बैठेगी सब वहीं बैठ और मारो हमेशा 24 घंटा सुफी करते रहते हैं रानी की जय जयकार करते रहते ना तो वैसे इन लोग भी क्या किए गए उत्क्रामंत सर्वाय उत्क्रामंती तस्वीन से प्रतिष्ठा माने सर्वा एवं प्रातिष्ठन जहाँ महारानी बैठ गई तो सब वही प्रतिष्ठित हो जाते करने लगते तो वैसे भी सब के सब क्या करने लगे एवं वांग मन चक्षु श्रोत वांग मन चक्षु श्रोत सभी के सभी ते प्रीता संत प्राणम सुनवंती सब के सब प्रसन्न हो गए समझ में आ गया भाई ये मुख्य प्राणी असली है और हम सब तो नकली हैं जब समझ में आ गया सब उस असली की प्रशंसा करने लगे अच्छा सच प्राणा भाषिका तेषा अश्रुदान दाम आलक्ष्य वह मुख्य प्राण उन सभी के द्वारा अश्रद्धा करता हुआ अविश्वास करता हुआ को देख करके अभिमान ऊर्ध उत्क्रमत अभिमान से ऊर्ध की ओर उत्क्रमण करने के समान नाटक किया इदम उत्क्रांतवान इव सरोषा गुस्सा से उत्क्रांतवान के समान कर दिया निरपेक्ष तस्मिन उत्क्राम अन्यों के अपेक्षक के बिना ही उत्क्रमण करने लगा यह वृत्तम तदृष्टान्त प्रत्यक्ष करो दी जो हुआ है उसी को स्वयं मधु में मधुकर के दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे भी तो, तो दृष्टान्त उत्तवा तस्मिन उत्क्रामी सती अदानंदम एवं उसके उत्क्रमण करने के जैसे करने लगा ठीक उसके उत्तर क्षण में ही क्या हो गया इतने सर्वे प्राणा क्षराद अन्य सभी जो गौण प्राण इसलिए प्राणा बहुवचन प्रयोग कर दिया चक्षुरा दिया ये सब के सब उत्क्रामंत उच्चक्र मिले सब के सब ऊर्दगमन करने लग गए और तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा माने और वह प्राण जैसी चुपचाप बैठ गया तुष्टि बहुत ही अनुत्क्रामी उत्क्रमण नहीं कर रहा तो सर्वैव प्रातिष्ठ तुष्टि में स्थित भवन सब के सब शांत होकर के अपने अपने कार्य में व्यवस्थित हो गए तत्र था लोके मक्षिका मधुकराहा उसको दृष्टांत समझा रहे प्राणों पर तथ्यम पठनीय प्राण देवता स्त्रोत्र चक्षुराज देव ही प्रणीत माह कहते देखो लोके मक्षिका मधुकराहा वृत्तम मुक्त दृष्टांत स्पष्ट थी जो पहले कहा था तो उसी को यहाँ पर यद वृत्तम दृष्टान दृष्टान्त ना प्रतीक्षी दी उसी दृष्टान को व्याख्या स्थाप किया जा रहा है मक्षिका मधुकरा स्वराजानम मधुर राजानम उत्क्रामंतम प्रति जैसे समस्त मक्षिका है मधुकर अपना जो राजा है मधुकर राजा वहां पर तो राजा कह दिया गया इन वहां तो माना गया है मधुमक्खी जो रानी होती है वो उठती है तो सब उठ जाते मधुर राजन उत्क्रामंतम प्रति सर्वाय उत्क्रामंत सभी के से उत्क्रमण कर जाते हैं तस्वीन प्रतिष्ठा माने सर्व प्रतिष्ठम है और उसके प्रतिष्ठित होने पर सभी कैसे प्रतिष्ठित हो जाते हैं यदा अयम दृष्टान्त एवं एवं जिस प्रकार से दृष्टान्त आपने देखा उसी प्रकार से वांग मन चक्ष श्रोत इत्यादि इत्यादि सभी के सभी देवता ते उसृज अश्रद्धानता अपनी जो अविश्वास अश्रद्धा थी उसे उन्होंने त्याग दिया त्याग करके बुद्धा प्राण महात्म प्राण के महत्व को जानने के पश्चात प्रीता प्रसन्न होकर के उन लोगों ने प्राणम स्तुवंती स्तुवंती प्राण का जो वो स्तुति करने लगे छांद से स्तुवंती ये शुद्ध करके सब बोल रहे थे स्तुवंती इसमें पहले उत्क्रामती का ना आप बताए ना उत्क्र उच्च उत्क्रामंत उच्चक्रमिरे लिख लगा सब इस प्रकार के वो बना के लिख देते हैं शुद्धिकरण छांद प्रयोग है वो सब टीकाकार स्पष्ट करते हैं काल व्यत्या तुष्ट इत्यर्थ वो भी है काल के व्यक्ति को देखते हुए परोक्ष लिट करनी चाहिए तुष्ट ऐसा होना चाहिए जैसे और चक्र मिले जब आपने कर ही दिया चक्र मिले क्या ना तो अभी करो फिर तुष्ट ये खत्म उन्होंने कैसे स्तुति करी क्या क्या उन्होंने कहा बताओ एश प्राण अग्निश एश सूर्य एश पर्जन्यो भगवान एश वायु एष पृथ्वीरदेव सच्चामृत यत अनेकों श्लोक है प्राणोपासक को इसी स्त्रोत्र का नित्य पाठ करनी चाहिए जब प्राण को ही उपासना करने वाला व्यक्ति है प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ है प्राण ही वरिष्ठ है प्राण ही आयतन है प्राण में सकल गुणों का संपादन करता हुआ अंग्रह के साथ अहमेव प्राण इस प्रकार से अंग्रह उपासना करें क्या प्राण प्रतीक उपासना करे तो उसको अवश्य स्त्रोत्र का पाठ नित्य करनी चाहिए कितने मंत्र है स्त्रोत्र में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ स्तुति में ही है प्राण ये प्राण ही अग्नि है हे तपति सूर्य हे प्राण ही सूर्य रूप धारण करके सबको तपा रहा है प्रकाशित हो रहा है ये अग्नि तप रहा है ऐसे जोड़ दो सूर्य प्रकाशित कर रहा है एश पर्जन्य यही प्राण जो है जल धरा को धारण कर स्वरूप धारण करके वर्षा कर रहा है एश भगवान अतः वही इंद्र इंद्र रूपी प्राण प्राण ही इंद्र रूप होकर के वर्षा कर रहा है ऐसा भी जोड़ो वायु रेशो एश वायु हो यही वायु है यही प्राण वायु है यही प्राण पृथ्वी है यही प्राण रही है जल है यही प्राण देव है यही प्राण सत मूर्त और असत अमूर्त सब कुछ यही है ये अमृत और जो प्राण ब्रह्म भी कहे प्राण की स्तुति है ना प्राण ही वो अमृत ब्रह्म भी प्राण ही है अराय अधरा भो प्राणी सर्वमृत चलो इसके भाष्य पहले कर लो येष प्राण अग्नि सन यह प्राण ही अग्नि होकर तपदी ज्वलदी तपाता है जलाता है से सूर्य सन प्रकाशित है ठीक उसी प्रकार यह प्राण ही सूर्य होकर सूर्य को प्रकाशित करता है तथैश पर्जन्य सन वर्षदी ठीक उसी प्रकार यही प्राण जो है पर्जन्य होकर के बादल बन करके वर्षा करता है किंच भगवान इंद्र संतजाता यदि जिघान सती असुर इसी प्रकार यही प्राण इंद्र होकर के प्रजाओं का पालन भी करते हैं और असुरों की और रक्षा आदि दुष्टों का नाश भी करते हैं ये वायु आव प्रभा यही वायु आवा प्रभा विवाह इत्यादि भेदों के उनचालीस प्रकार का हो जाता है मरुदगण बन करके इस संसार का पालन पोषण कर रहे हैं किंच पृथ्वी बस यही प्राण ही पृथ्वी रूपेण हो करके हम सब विभिन्न प्रकार के अन्न प्रदान कर रहे हैं यही प्राण जल रूपेण सर्वत्र विराजमान रहकर हम सब की जो क्षुरा को और त्रुट को निवारण कर रहे हैं यही देव है यही हम सब के अंदर विद्यमान रह करके वस्तु अंग तत्व इंद्रियों के विषयों में प्रकाशन करने का सामर्थ्य प्रदान करता है सर्वस्व जगत मूर्तम और सगल जगत का रूप धारण करते हुए यह वास्तव में मूर्त स्वरूप ही है सत में मूर्तम असत में अमूर्तम च अमृत ये देवानाश्री कारणम जो देवताओं का सिद्ध का कारण अमृत है वह भी प्राण ही है और इससे क्या कहा जाए सब कुछ वही है वही अनंत रूप से विराजमान रहकर इन सगल प्रकार के जगत में विद्यमान नाम तो जगत के सकल उपाधियों को धारण किया हुआ है यदि किसी उपाधि में प्राण रहा तो टिक ही नहीं सकता इसलिए प्राण रहित तो कोई वस्तु है ही नहीं संसार लोग अरे पत्थर में प्राण नहीं अरे उसमें सही प्राण है सभी में प्राण ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें प्राण नहीं कहेंगे लकड़ी में तो तो प्राण नहीं अरे प्राण नहीं होता चलाते तो इतनी कहा ताकत आ गया उसमें आग अंदर भी उसको ताप तो क्या होता है गर्म करंट चलता है खून ऐसा फ्लो होता है है कि नहीं कहा से आ गया सब प्राण है ना आपने सज्जामनिया कर दिया कहते कि अब सब प्राण अरे प्राण नहीं होता तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर प्राण शक्ति कहा से बढ़ेगा उससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है ना एक शक्ति का एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप प्रदान करते जा रहे हैं एक सोर्स से दूसरे को प्राप्त हो रहा है यदि उसमें शक्ति नहीं है दूसरे को प्राप्त कहां से करेगा वो और दूसरे स्वरूप जो प्राप्त है उसके आधार पर आप कार्य कैसे संचालन करेंगे कार्य हो रहे पत्थर के एक रूपता को तोड़ फोड़ कर दिया दूसरा रूप दे दिया उससे कार्य संपादन हुआ कि नहीं हुआ इसमें शक्ति न हो कार्यांतर का संपादन उसने कैसे किया बजरी रोड़ी बनाया उसे छत खड़ा है कि नहीं खड़ा है सभी में कतरा भी इसकी आयु खत्म हो गई इस ब्रिज को तोड़ दो पुल को तोड़ दो क्यों भाई इसकी आयु खत्म अरे उसके प्राण की उनको कैसे पता चला प्राण भी ना हो उसकी आयु का तय आपने कैसे कर दी पुल का भी आयु तय हुआ तोड़ा गया था ना यहाँ का पुल चंद्रभागा पुल कि तय हो गया अभी इतने साल में किया गया था और जिस प्रकार के इसमें मटेरियल प्रयोग किया उसके अंदाज के अनुसार इस जो कार्य कारण संघात है इसकी इतनी आयु अंदाज है वो अब खत्म हो गया इसे तोड़ा जाए नया बनाया जाए बन गया तोड़ता रहे होता भी है कोई भी चीज रखे रखे क्या होता है धीरे धीरे देखो ना सीमेंट के क्रैक हो जाते हैं अपने आप प्लास्टर छूट जाता है क्यों हुआ ऐसे जो प्राण शक्ति उसका खत्म होता गया तो वो अपने आप जो बिखेरने लग जाता है अलग अलग होने लगता है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ये तो प्रसिद्ध दृष्टान दे रहा हूँ पुराने मकान को देखो ना जो खंडर क्या हो रहे हैं क्रैक हो रहे हैं वो प्लास्टर भी अलग हो जाता है कि नहीं होता है बिखर रहा है क्यों बिखर गया उसके अंदर धारण करने की जो प्राण शक्ति थी वो क्षीण हो गया हवा धूप पानी लगा खराब हो गया क्षीण हो गई जैसा आपको भी हवा धूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है है पानी पड़ता है कि नहीं अंदर अंदर भी जाता है ना ऊपर भी पड़ता है अंदर भी जाता है खुशी का तो नतीजा है ये धीरे धीरे बाल सफेद हो रहे धीरे धीरे सारे जवाब दे रहे हैं नहीं चश्मा लगाओ कान की मशीन लगाओ धीरे धीरे बिखरते जाते बिखरते जाते खत्म हो जाते हर वस्तु में ऐसा ही है और आजकल वैज्ञानिक ने तो ऐसे ऐसे मीटर सीटर क्या क्या बना लिया है और कहते पत्थर में घुसा देते कहते इस पत्थर का आयु 25 लाख साल पुराना तो कहा से मीटर ने बता दिया मीटर ने बता दिया नहीं हर रॉक्स के बारे में कहा नहीं क्या कितने लाख साल की है कैसे गणना कर दी और उसकी आयु इतनी लंबी और इस शरीर की आयु लाखों साल तक भी चट्टान के चट्टान बने हुए हैं बिखर नहीं रहे जैसे उसकी आयु खत्म होगी बिखर जाएंगे उसके प्राण जो है निकल पड़ेगा तो अपने आप बिखर जाएगा इसे ऐसा कोई तत्व नहीं जिसका प्राण नहीं है और प्राण से सबका विधारण हो रहा है ये बात साबित किया इसलिए उन्होंने कहा सच्चा असच्चा अमृत कर और भव प्राणे सर्व प्रतिष्ठित चो सामानी यज्ञ छत्रम ब्रह्म हे प्राण तू ही प्रजापति है कले भाई जैसे रथ की नाभि में आराए लगे हुए रहते हैं रथ की नाभि में सारे आराए समर्पित हुआ करती हैं ठीक उसी प्रकार से प्राणे सर्वम प्रतिष्ठित प्राण में सारे चीज प्रतिष्ठित इसलिए प्राण का हृदय में का सब हृदय से बंधे हुए चारों तरफ से पूरा शरीर जहाँ से निकल पड़ता है मुंह खुल जाता है आंखें फट जाते हैं अब कहा बंधे हुए सब खुल जाती है नहीं खुल जाता है क्यों हुआ हृदय देश विद्या प्राण सब खेच रखा है सब बंद है ठीक ठाक है सब अपने जगह पर आप चाहे खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं प्राण जोड़ से बंद करोगे तो भी खुल जाता है फिर बांध देते हैं बंद रखोगे जब विधारण किया है तो स्पष्ट अनुभव हो रहा है सभी को उसके से बिखर रहा है इसलिए कहते हैं प्राणी सर्वम प्रतिष्ठित ऋचो क्या कौर और दादा ये जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यज्ञ ब्राह्मण क्षत्रिय जो कुछ भी है सारा चीज प्राण में ही प्रतिष्ठित है प्राण नहीं तो ब्राह्मण कैसे मुर्दे को ब्राह्मण कहा जाता है क्या जब तक जिंदा है तो ये ब्राह्मण है बाद में क्या हो मुर्दा है जब तक जिंदा है तो शूद्र है बाद में क्या है मुर्दा है सब एक ही संज्ञा मरने के बाद सब एक ही संज्ञा है मुर्दा बस एक नाम पड़ गया न ब्राह्मण रहा न क्षत्रिय रहा न वैश्य न शूद्र कहा ले जा रहे शब्दाग्री मिले ले जा रहे मुर्दा घाट एक ही घाट सबके अलग अलग नहीं बनेगा एक ही में सबको चल रहा है केवल जब तक जिसे प्राण है जब तब तक अभिमान है मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं ये हूं मैं वो तो सब कुछ प्राण के कारण सही है जब प्राण निकल गया है तो मुर्दा है शव है एक संज्ञा से ग्रह ग्रहण होता है कोई अंतर नहीं ये तो भूतपूर्व संज्ञा को लेकर के कह रहे ना जैसे जल आ जाए तो शूद्र ने संस्कार हो गए तो समझ तो हुआ है सारी भेद नहीं तो शरीर पैदा हो रखा है बात करता सब एक जैसी हाथ पैर आंख कौन से फर्क है कोई फर्क है क्या आगे ब्राह्मण गोरा होता है उसे ज्यादा वर्ग विदेशी है तो ये तो कोई फार्मूला बनती नहीं है कोई फार्मूला नहीं बनेगा काली भी ब्राह्मण बहुत तो इसीलिए ये व्यवस्था बनता नहीं शरीर को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है ये प्राण अंदर बैठ गया उसे अहंकार आ गया तो उसी को लेकर सारी व्यवस्था बन गई बाह्य व्यवस्था है इसलिए श्रद्धा श्रद्धा नामांतम सर्व श्रद्धा से लेकर नाम पर्यंत सब कुछ श्रद्धा से नाम पर्यंत छांद परिषद पढ़ लेना जमुनारे जी ने प्रश्न पूछा कुमार जवाब दे रहे थे तो बता श्रद्धा से आरम्भ कर दे और नाम पर्यत लेना ये सारी चीजें का ए टू जेड जितना भी है वो सब क्या है या अगले प्रश्न में सोलह कलाओं का जो वर्णन किया जाएगा सोलह कलाएं तो उन सोलह कलाओं को ले लें श्रद्धा से नामांत भी नामांत प्राणा श्रद्धांकम वायु ज्योतिराप इत्यादि आगे मंत्र आ रहा है उस मंत्र में जैसे कहेंगे उसके आधार पर सोलह कलारोपा जो सारे चीजें वास्तु में कहा अर्पित है इस ब्रह्म प्राण अर्पित सर्वम स्थिति काल है स्थिति काल है मरणानंतरम नहीं हुआ न च उत्पत्ति पूर्वक किन्तु स्थिति काल है प्राण एवं प्रतिष्ठित प्राण में ही प्रतिष्ठित है तथा ऋचो यजुंशी सामानी त्रिविधा मंत्र इसी प्रकार से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद त्रिविध जो मंत्र प्रयोग होते हैं तत्साध्य यह और मंत्रों के रसादी यज्ञ और यज्ञों का संपादन करने वाला जो छत्र सर्वस्व पालयत्री ब्रह्मचर्य यज्ञ कर्म कर्तृत्व अधिकृतम चैव प्राण सर्वम जो इन सब यज्ञों को करने वाला क्षत्रिय और समस्त जीव जगत को प्रजाओं का पालन करने वाला भी है वो और ब्राह्मण यज्ञ आदि कर्म को कराने वाला है और सकल विशिष्ट कर्मों में अधिकृत है ऐसे जो है ये सब के सब एस प्राण एव सर्वम यह प्राणी सब कुछ है किंच और